और इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी गई और कयामत के दिन भी लगी रहेगी कितना ही बुरा इनाम है जो उन्हें दिया गया